वहाब बिन मुनब रजी अल्लाह से रिवायत है उन्हें कहा गया क्या ला इलाह इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं जन्नत की चाबी नहीं उन्होंने कहा क्यों नहीं लेकिन हर चाबी के दंदाने होते हैं अगर तुम दंदान वाली चाबी लाओगे तो आपके लिए उसे खोल दिया जाएगा वरना नहीं खोला जाएगा मशकातुल मसाबी हदीस नंबर तैंतालीस